ॐ वामहे मनसि प्रतिष्ठितः मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिष्ठः श्रुतम् वे महाप्राश्रीरमेणा गीतेन होरासन्दः अमृतम भविष्यामि सत्यम भविष्यामि तन्मामवतु तदवतारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ऋग्वेदी ऐत्र परिषद प्रथम अध्याय प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था स इमान लोकान अस्त्र जाता इस वाक्य के ऊपर विचार चल रहा था वो परमात्मा ने इन लोगों की सृष्टि की अच्छा। तो लोग क्या है तो अम्भोग मरकी मरम आप इत्यादि इन लोगों की सृष्टि के ऊपर विचार चल रहा था तो एक शंका उठाई थी जो कुछ काम करने वाला व्यक्ति है उसको अपने से अतिरिक्त साधन हुआ करता है जो उपादान कारण होता है जो बनाने वाला होता है वो तो निमित्त कारण होता है बनने वाली वस्तु की आवश्यकता है तो सृष्टि के पूर्व में यहां एक ही परमात्मा है और कुछ नहीं है तो उसके पास अतिरिक्त साधन नहीं है कैसे सृष्टि कर सकता है तो उसका दो प्रकार से उत्तर दिया भाष्य में देखो उपादान कारण भी है उपादान कारण अभी अभिव्यक्त नाम रूप अभी जो होते हैं ये जगत इसके पूर्व अवस्था में अनभिव्यक्त अवस्था के जो नाम रूप हैं वो इस जगत का उपादान कारण हो जाएगा निवृत्त कारण परमात्मा हो जाएगा उपादान कारण है ये नाम रूप जो अनभिव्यक्त अवस्था में आत्मरूप आत्मा से अभिन्न होकर के बैठे हुए थे पूर्व में वो हो जाएगा उपादान कारण एक ऐसा उत्तर दिया दूसरा उत्तर दिया अथवा जो विज्ञानवान भी होता है एक जादूगर विज्ञानवान मैं ऐसे शरीर को इस शरीर को रूपांतर से दिखाऊंगा ऐसे विज्ञानवान तो वो दो शरीर दिखता है एक तो दर्शकों के सामने यहां पर मतलब दृश्य दिखा रहा है दूसरा शरीर वो वैसे ही शरीर बना करके आकाश मार्ग से चलता हुआ दर्शक को प्रतीत होता है वहां पर दूसरा कोई उपाय कारण नहीं है विवर्त भी वही है निमित्त भी वही जादूगर है उपादान कारण भी वही है दूसरा शरीर शरीरांतर बनाने हाँ, माया भी है तो वैसे परमात्मा सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है महामाई है ये एक सामान्य माया भी, भी ऐसा कर सकता है निमित्त अभिन्न उपादान कारण बन सकता है देखा है तो ये तो महामाई है तो उसके लिए दूसरे उपादान कारण की आवश्यकता नहीं है यही कह रहे थे इसकी टीका चल रही थी इसी पंक्ति की टीका चल रही थी तो भाष्य में कहा था एवं सती कार्यकार वह असल बाधा विपक्ष न प्रसन्न थे सूर्य निराकृता से भवन भाष्य के अंत में थी पंक्ति तो उसको कहा ऐसा मानने पर एक ही परमात्मा ही है कार्यकार उभय रूप से दृश्य दिखाई पड़ता है जगत में जो कार्यकाल दो भाव दिखाई पड़ता है अरे परमात्मा यहां पर हमें कार्यकाल भाव में दिखाई देता है अज्ञान की महिमा से ऐसा मानने पर कार्य कारण उभय सद असदवादी पक्ष है कोई कारण को सत मानता है कोई कार्य को सत मानता है कोई कारण को असत मानता है कोई कार्य को असत मानता है ऐसे ऐसे वादी हैं ये वादी के वक्त सारे के सारे खंडन हो जाता है एक ही परमात्मा ही है या जगत में जो कार्य कारण भाव है उस रूप से दिखाई पड़ता है दृश्य आता है रज्जु ही होती है सर्व रूप से दिखाई देता है ऐसा मानने पर ये सारे पक्ष खंडित हो जाते हैं ये इसके टीका थी एवं च के आगे टीका सतएव आत्मना कार्य कारण रूपेण अवस्थान अंगीकारा वेदांत में यही स्वीकार है क्योंकि सदैव सौम्य आदि है आत्मा वही इतमय का अग्रे आश्रित नान्यत पिंद्र यहां की भी वैसे ही है आत्मा ही था कोई सजातीय विजातीय स्वगत भेद वाला कोई वस्तु नहीं थे फिर सृष्टि कैसे हो सामग्री नहीं है एक प्रश्न का उत्तर ही था यहां पर सतएव आत्मा कार्यकार हो गए अवस्थान रहा तो आत्मा ही है किंतु दिखाई पड़ता है कार्यकार रूप से जगत रूप से दिखाई पड़ता है रज्जु ही होती है किंतु दिखाई पड़ता है सर्प रूप से अज्ञान के महिमा से इसलिए सत एवं आत्मा जो सत आत्मा है बाधित सत आत्मा है उसी का कार्य कारण रूपेण अवस्थान अंगीकारात कार्य रूप से भी वही अवस्थित है कारण दोनों रूप में दिखाई पड़ता है आत्मा इसलिए निर्हेतु कम एवं तो कार्य होता है इच्छावाद कुछ लोग बोलते हैं कारण नहीं होता कार्य हो जाता है स्वभाव पाजी बिना कारण का कार्य होता है ये भी खंडित हो जाता है बिना कारण का कार्य नहीं होता यहाँ आत्मा है इसलिए जगत दिखाई पड़ता है निर्हेतु कम एवं हेतु के बिना ही कारण के बिना ही कार्य में उत्पत्ति थे ऐसा एक भाव है स्वभाव भाव तो खंडित हो जाता है और असदैव कार्य में उत्पत्ति थे नैयायिक कहते असत होता है कार्य जो घट आदि बनने की पूर्व अवस्था उसकी असत होती है आरंभवाद है पहले मिट्टी में घट नहीं है असत है असत घट की उत्पत्ति होती है वो भी खंडित हो जाता है असत नहीं है यहाँ हमारे यहाँ शब्द है विद्यमान शब्द है असत ही कार्य उत्पन्न होता है असत से कार्य होता है बोलते वो असत मान कार्य के पूर्व को असत रहता है नैयायिकों का कहना है वो भी खंडित हो जाता है और उभय तो में भी असत शून्यवादी बौद्ध बोलते हैं न कारण है न कार्य दोनों असत है सर्वम शून्यम तो ये भी खंडित हो जाता है आदि शब्द है ना और आदि भी है कार्य कारण उभय असतवाद आदि पक्ष आदि शब्द से क्या लेना है कहा सदैव कार्य उत्पत्ति सांघो मत है कार्य सत है उत्पत्ति नहीं होती है उसके आविर्भाव होता है मृत्यु में घट पहले से ही विद्यमान है उसके केवल आविर्भाव होगा प्रकट हो जाता है अगर में रखा हुआ घट के समान नहीं है घट बनता नहीं है तो सदैव कार्य उत्पत्ति दे ऐसा सांख्यों का मत है कारण कार्य उत्पन्न नहीं वो सती है कारण में छिपा हुआ होता है कुमार के जो जो होगा अपने सामग्री उतरेगा उसके बाद वो प्रकट हो जाता है जैसे अंधेरे के घट के लिए टर्च आदि की जरूरत पड़ती है कुमार जब अपने व्यापार का प्रयोग करता है तो उपलब्धि हो जाती है उसकी ऐसा सांख्यों का है ये भी नहीं होता और परिणाम पक्ष से उगता है परिणाम पक्ष है सांख्यों का परिणाम है मिट्टी का ही एक विशेष स्थिति की परिणाम है घट घट माने अतिरिक्त तो उत्पन्न नहीं होता मिट्टी का ही एक विशेष परिणाम है मिट्टी ही परिणत हो जाती है घट रूप से ऐसा उनका पक्ष भी खंडित हो जाता है कहा कहते हैं अत्र पक्ष शब्द है ना भाष्य पक्षाश न प्रसन्न का पक्ष शब्द कहा तो पक्ष शब्द से क्या लेना अत्र पक्ष शब्द है तब तक पक्ष उत दोषा लक्षण थे उस उस पक्ष में कहे गए जो दोष है वो लक्षित होते हैं तो क्या होगा तत्र असत कारण पक्ष है कारण को असत मानने वाले कारण है कार्य अपने आप होता है मानने वाले कारण को असत मानने वाले जैसे स्वभाव स्वभाव आदि है बिना कारण का कार्य होता है अथवा नैयायिक भी वैसे उसी स्थिति में पूर्व असत मानता है पूर्व रूप असत मानता है कारण कार्य का इनके मत में असत कारण पक्ष कारण को असत मानने वाले जैसे नहीं आई है या कारण है नहीं कहने वाले असत मानने वाले ये चार बात है क्या है स्वभाववादी है इनके मत में दध्यार्थी नाम दुग्धादी अन्वेषण नश्या ये दोष आ जाएगा उन मत में दधी चाहने वाले को दूध की अन्वेषण नहीं करना चाहिए क्यों असत से होना है तो अविद्यमान तो सर्वत्र ही है दूध ही क्यों लाता है दही चाहने वाले बिना कारण का कार्य होता है ऐसा कहना बनता नहीं असत कारण पक्षे तद्यादि अर्थ है नाम जो दधी चाहने वाला व्यक्ति होगा उनके लिए दुग्धादि अन्वेषण नश्यादि दोष ही दोष आ जाएगा शेर की टिप्पणी कहा कि असत कारण प्राप्त किसका है यथोक्त यदृच्छावादि पक्ष बिना कारण का कार्य होता है तो बिना कार्य का कार्य होता है तो दूध को क्यों ढूंढते हो दही बनाने के लिए बिना कारण वो सर्वत्र विद्यमान है तो दूध ही क्यों लाते हो तो उत्तर होगा अच्छा असत कार्य पक्ष है विज्ञानवादी बहुत तो बोलता है कारण तो सत्य होता है विज्ञान किंतु कार्य असत होता है विज्ञानवादी बौद्धों का मत है असत कार्य पक्ष क्यों विज्ञान क्षणिक विज्ञान को तो सत्य माना है उन्होंने विज्ञान का तो सत्य असत में तो उत्पन्न नहीं हो सकता सत्य विज्ञान किंतु कार्य असत है असत कार्य पक्ष है जो विज्ञानवादी बहुत होते हैं वो कार्य असत मानने वाले के पक्ष में तो असत सत्वापत्ति है फिर क्या होगा असत की सत हो जा सिद्ध होगा असत कार्य पक्ष है तो हाँ, नहीं नहीं असत का कार्य माने कार्य पूर्व में असत मानने वाले के नैयायिक पक्ष है कार्य को पूर्व भाव असत मानते हो अविद्यमान की उत्पत्ति पूर्व में मिट्टी नहीं होती मिट्टी में घट नहीं होता घट का प्रादुर्भाव बैठा हुआ तो उससे घट होना है ये नैयायिक मत है उनके लिए असत सत्य होती कार्य नहीं था अब सब माने असद वस्तु की विद्यमानता ये सिद्ध हो जाएगी जो नहीं है उसकी होना या नहीं एक पक्ष में दोष आएगा जैसे सस विषाणादेर में उत्पत्ति प्रसंग सत सत दूसरा दोष आ जाएगा यदि असत का सत हो सकता है अविद्यमान कार्य विद्यमान होता है तो खरगोश के सिंह भी उत्पत्ति होनी चाहिए अविद्यमान है वो उसकी उत्पत्ति होनी चाहिए नैया के पक्ष में दोष आ जाएगा परिणाम बाद पक्षे बाद परिणाम बाद सांख्यों का उसमत तस्य पूर्वम एवं कारण सत्वा वो जो कार्य है पहले कारण में विद्यमान है फिर उसके उत्पत्ति करने के लिए सामग्री व्यापार क्यों करेगा वो व्यापार व्यर्थ हो जाएगा मिट्टी में घर पहले विद्यमान यदि है तो घर बनाने के लिए इतने व्यापार क्यों करेगा दंड चक्रादि गुलाल क्यों चाहिए ये दोष आ जाएगा परिणामवादी तस्य हमारे कार्य से पूर्व कारण सत्वा कार्य जो पहले कारण में होने से कुलालादि कारक व्यापार वही अर्थम कुलालादि जो कारक व्यापार कारक में जो व्यापार होता है वो तो व्यर्थ पड़ेगा पूर्वम असत्व पहले नहीं था बाद में होगा ऐसा मानेंगे पूर्वम असत्व शून्यवाद शून्य में कल्पित मानता है जगत को पहले नहीं कार्य मानेंगे तो क्या होगा कारण से अवस्थान अवस्था लक्षण परिणामत्व अनुपत्ति फिर परिणाम में कहा गया पूर्वम असत्व कारण से अवसंधापत्ति लक्षण परिणाम तो अनुपंथ पूर्व में यदि न हो ये उन्हीं के मत में दोष आएगा पूर्व में कार्य न हो तो कारण को ही पत्ति होना जो माना गया है सांख्यों ने कारण ही अवस्थान्तर परिणाम होता है बोलना ये परिणाम तो नहीं होना ये दोष आ जाएगा कहा उत्पत्ति अनंतरम असत्य विज्ञानवादी बोलता है पहले कारण तो सत्य होता है उत्पत्ति के बाद में कार्य असत होता है उत्पत्ति अनंतरम असत्य तो, तो व्यवहार सिद्धि फिर व्यवहार नहीं होनी चाहिए घटादी उत्पन्न यदि नहीं है तो व्यवहार नहीं होना चाहिए व्यवहार हो रहा है इसलिए अनिर्वचनीय सिद्ध होना है व्यवहार सिद्धि अपरोक्ष अनुपत्ति से और कार्य है ही नहीं वो असत कार्य है तो नहीं है नहीं है तो उसके अपरोक्ष नहीं होना चाहिए बंध्या पुत्र को किसी ने आज तक नहीं प्रत्यक्ष नहीं किया है तो घटाधिक प्रत्यक्ष होते हैं ये भी दोष आएगा असत्व कारण से उत्पत्ति अनंतरम असत्व तत्व व्यवहार सिद्धि उससे फिर व्यवहार नहीं हो पाएगा और अपरोक्षत अनुपत्ति से दोष उभया सत्व शून्यवादी के मत कार्य में नहीं कारण भी नहीं शून्यवादी बौद्ध का मत यदि आएगा तो उभय पक्ष उक्त दोष आ तो जैसे जैसे दोष कोई कोई बताया कारण न मानने पर ये दोष है कार्य न मानने पर ये दोष है जो कहा था ये दोष ते विवर्तवाद है न प्रसजनते विवर्तवाद में ये दोष सारे कोई दोष नहीं आना न हम कार्य को असत भी नहीं कहते हैं कारण को असत भी नहीं कहते हैं हम तो कार्य को सदसत उभय विलक्षण मानते हैं सत भी नहीं मानते हैं असत भी नहीं मानते हैं कारण कार्य भाव दोनों को हम सदसत विलक्षण मानते हैं इसलिए हमारे यहां कोई दोष नहीं आएगा हमारे यहां अनिर्वचनीय ख्याति है सतर्क ख्याति रसत ख्याति अख्याति ख्याति अन्यथा तथा वचन अख्याति इतर ख्याति पंचम एक ख्याति जहां पर भ्रम होता है ना वहां पर जैसे जगत का भ्रम हो रहा है तो यहां क्या मानना है सत के ख्याति ये सत है कहते हैं सांख्य लोग बोलते सत है जगत जो प्रधान सत है तो जगत की सत है सत ख्याति सत का ही कथन होता है परिणामवाद परिणामी पक्ष शांत पक्ष असत ख्याति विज्ञानवादी बहुत तो होता है नहीं है केवल नए वस्तु केवल प्रयोग होता है विज्ञान है उसमें कल्पना है सारी असत ख्याति है वो असत अख्याति प्रभाकर का कहना है नहीं या भ्रम होता ही नहीं इदम रजतम जो भ्रम होगा अयम सर्प जो भ्रम मानते हैं जहां इदम अंश प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका बात होना नहीं है क्या भ्रम होना भ्रम तो बाद होता है ना इदम अंश प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष ज्ञान है और रजतम अंश जो हो रहा है वो पूर्व दृष्ट रजत का वहां पर स्मरण हो रहा है पहले रजत कहीं देखा था यहां पर सादृश्य के कारण से याद आ रहा है उसका स्मरण उसको भी भ्रम नहीं कर सकते यथार्थ ज्ञान हुआ था पहले जहां रजत को ही रजत कहा था आज उसका ख्याल आ रहा है तो इनके पक्ष में अख्यातिवाद है ब्रह्म माने कोई चीज होता ही नहीं ये प्रभाकर का मत है और अन्यथा ख्यातिवादी है नहीं आई यहां अभी सुक्ति के टुकड़े में चांदी दर्शन हो रहा है चांदी की मान्यता हो रही है किंतु अन्यथा ख्याति है पहले अन्यत्र देखा हुआ था चांदी को वो चांदी बाजार में चांदी है विवर्तमान में वो चांदी यहां दिख रहा है हटस्थ जो रजत है यहां पर दिख रहा है तो भी यथार्थ ही है तो ब्रह्म नहीं हो वहां का चांदी यहां दिखाई पड़ रहा है कोई स्मरण नहीं है प्रत्यक्ष है हटात दूर देश की वस्तु यहां दिखाई दे रहा है ऐसी मान्यता है वो तो अन्यथा ख्याति वाले हैं और वेदांति अनिर्वचन ख्याति उसको उत्पन्न नहीं हुआ नहीं कर सकते हैं उत्पन्न है भी नहीं कर सकते ऐसी स्थिति में है वेदांति ऐसा मानते हैं अनिर्वचन मानते हैं ऐसी माने सुक्ति के टुकड़े में चांदी उत्पन्न नहीं हुआ है तो असत होगा तो उसके प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए व्यवहार हो रहा है असत्यत न प्रती अगर वो असत हो सुक्ति के टुकड़े में चांदी जो दिख रहा है यदि नहीं है असत है बंदिया पुत्र जैसा है तो प्रतीति नहीं होनी चाहिए प्रतीति हो रही है ज्ञान का विषय बना हुआ है इदम रंगम सचेत न बाध्यता यदि सत हो तो आगे बाध नहीं होना चाहिए सुप्त ज्ञान काल में बाद होता है सदसद उभय रूप तो कोई होता नहीं है इसलिए अनिर्वचन माने सदरूप से असद रूप से उभय रूप से निर्वचन नहीं होता है इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहा यही है ये कहते हैं <clears throat> विवर्तवादे न प्रसजनते का जितने भी दोष बताए गए कारण को सत मानना या कार्य को सत मानना या कार्य कारण दोनों को असत मानना ये सारे के सारे जितने दोष आ रहे थे अन्य वाणियों के मत में वेदांत में नहीं आएगा हम कार्य कारण दोनों को ही अनिर्वचनीय मानते हैं हाई एक सब त्रिकालाबाधित सब परमात्मा है उसी में कारण के कल्पित है कार्य भी कल्पित है जगत में जो कार्य कारण भाव होता है दोनों कल्पित है भाई परमात्मा हमको जगत रूप में दिखता है ये दोष नहीं होगा ये बता दिया यथवा अथवा दूसरे प्रकार से व्याख्या करता अस्मा भी विपर्तवाद से अंगीकारा हमने विवर्तवाद को स्वीकार किया है परमात्मा ही है जगत रूप में दिख रहा है जैसे माया भी अपने को ही रूपांतर में दिखाता है जादूगर जो होता है अपने को ही स्वयं को रूपांतर में दिखाता है उसी प्रकार यहां भी ऐसे दर्शकों के सामने हो रहा है यह यदा अस्माभिर विवर्तवाद से अंगीकारात हमने वेदांति ने विवर्तवाद को स्वीकार करने से परिणामारी पक्ष अंगीकार है परिणाम पक्ष स्वीकार करने पर दोष आएगा हमारे में तो वो दोष हमारे यहां नहीं आएगा परिणामादि पक्ष अंगीकार है परपक्ष अंगीकार लक्षण दोष है दूसरे ने स्वीकार किया वो परिणाम सांख्यों का है वो वो दोष हमारे यहां नहीं आएगा ये कहते क्यों नहीं आएगा सांख्यों का जैसे परिणाम हम नहीं मानते हम तो विवर्त परिणाम मानते हैं ये कहा यद संगते न संभवती माने दोष आपके मत में होकर कोई संज्ञा की जाए वो यहाँ दोष नहीं हमारे मानते शंका का दोष नहीं शंका नहीं हो सकती कहा एवं च सती इत्यादि कहा था एवं च सती कार्य कारण उभय असदवादादि पक्षाश्च न प्रसन्नते सुनिराकृता सवंती सुष्ठु निराकृता सुनिराकृता खंडित विशेष रूप से खंडित हो जाते हैं सारे मत आगे ठीक आने कहा विवर्तवाद से परिग्रहण विवर्तवाद का ही स्वीकार करने से परिग्रह करने से इसके परिग्रह के द्वारा पक्षांतर से दोष शोधना था हमने विवर्तवाद को मान लिया है और अन्य पक्ष में हमने दोष दिया है ये दोष को खंडन कोई करे कर नहीं सकता जो दोष दिया पक्षांतर दोष सूचना अन्य पक्ष में दोष की सूचना देने से अद्वितीय आत्मा तद विपरीत प्रबंधाकारता विधायन बहुश्याम देखो हमारे विवर्तवाद की पुष्टि के लिए बहुत सारे श्रुति है कैसे है अद्वितीय आत्मा जो अद्वितीय आत्मा है एक विवाद द्वितीय आदि शांतों बोला यहां भी आत्मा भाई इधम एक अग्रे आश्रित कुछ था नहीं एक ही था सजातीय विजातीय स्वगत भेद वाला कोई वस्तु नहीं था यह सिद्ध है पहले ऐसी स्थिति में अद्वितीय आत्मा ना उसका तद विपरीत प्रपंचाकार था उससे विपरीत प्रपंच के आकार धारण को बताने वाली श्रुतियां हमारे पास है अभिधानिया कथन करने वाली श्रुतियां हैं बहुश्याम श्रुतियां ऐसे वो हम बहुश्याम आदि श्रुति है ये विवृतवाद की मैं अकेला हूं अकेला व्यक्ति परिणत होकर के अनेक हो नहीं सकता विवर्त ही है जैसे मायावी में देखा कहा देखा मायावी में देखा है जादूगर अकेला आता है बहुत कुछ दिखाता है दिखे जाने वाला पदार्थ जादूगर ही है वो जादूगर से अतिरिक्त है ही वो सामग्री कुछ में क्या उसके पास ऐसा विवरता है ते तो कहा <clears throat> परिकरण पक्षांतर से दोष सूचना अद्वितीय आत्मा तद विपरीत प्रपंचाकारता विधायिन्या बहुत श्याम श्रुतिया विवर्तवाद से परिग्रहित ये जो एको हम बहुत से हमारी स्मृति के द्वारा ये सिद्ध होता विवादवाद उसके परिगृहित होने से स्वीकार करने से पक्षांतराम श्रुति बाह्यवाद से अन्य पक्ष जितने भी चाहे सांख्य हो नैयायिक वो बौद्ध हो जो जो पक्ष थे सत असतवादिकारी जितने थे बाह्य होने से वो श्रुति को नहीं मानते हैं ते निराकृता पहुंची इसलिए खंडित हो जाते हैं एक पांच की टिप्पणी में कहा अवैधिकत्व वो वैदिक नहीं है ये बता दें हाँ कहते हैं अब लोक की सृष्टि ये कहा था लोकान अस्थिर जाता लोक की सृष्टि की कौन है तो लोग बताया अम्बो मरिचे मर आप वो अंबादी शब्द का स्वयं श्रुति ने अर्थ कर दिया है अब अर्थ करते हैं ठीक भाष्य टीका में लौकिका नाम लोकानाम भौतिक अपवाद यहाँ लोकान अस्थिरता कैसे प्रयोग लोक तो भौतिक है पहले भूत सृष्टि होनी चाहिए ऐसे तो भूत की सृष्टि की चर्चा में केवल भौतिक सृष्टि पहले बताई है लोकान असृजता है लोक भौतिक है भूतों का कार्य है पहले पंचतन मात्रा की सृष्टि होनी चाहिए फिर पंजीकरण होना चाहिए या कुछ नहीं बताया या लोकान असृजत बोल दिया इसलिए संगति लगाना चाहते हैं लोकानाम भौतिकत्व ये भौतिक है भूतों का कार्य है पंचभूत कार्य है लोग इसलिए अंडांतरवर्तित्व दूसरी बात ब्रह्मांड बनने के बाद लोग होते हैं ये अतला बितला आदि लोग जो है पहले ब्रह्मांड बने तब कल्पना करेंगे भूर्भुव स्व महजन तप सत्य अतल पितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल ये चौदह भुवन चौदह लोग जो सृष्टि बताना है पहले ब्रह्मांड बने तब ना तो इसके मतलब सबसे पहले तो तन्मात्रा की उत्पत्ति होनी होनी है अपंचीकृत पंचमहाभूत की उत्पत्ति उसके बाद उनकी पंचीकरण पंचीकरण के बाद में ब्रह्मांड बनना होगा उसके बाद लोक होगा मैंने तीन कार्य पहले हो गया है ऐसा समझ लाया ये कहना चाह रहे हैं यहाँ लोकान अश्रिजता पद आया है नहीं तो अन्यत्र से विरोध होगा पहले पंचभूतों की सृष्टि होती है तन्मात्रा की सृष्टि होती है हर उसमें ये कहना चाहते हैं लोकानाम भौतिकत्वाद भूतों का कार्य है इसलिए ब्रह्मांड अंतर्गत दूसरी बात ब्रह्मांड के भीतर है ये पहले ब्रह्मांड बनेगा तब ये लोक की कल्पना होगी ब्रह्मांड अंतर्गत भूत सृष्टि सबसे पहले भूतों की सृष्टि माननी पड़ेगी तन्मात्रा की सृष्टि अपंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि उसके बाद पंजीकरण उनका पंजीकरण करना होगा मिलाना मिश्रण करना होगा उसके बाद अंडा सृष्टि उसके बाद ब्रह्मांड की सृष्टि पहले भूत सृष्टि फिर पंजीकरण पंजीकरण होने के बाद में ब्रह्मांड तो उसके अनंतर लोक सृष्टि ऐसा अर्थ करना होगा कहा ब्रह्मांड सृष्टि अनंतरम तत्सृष्टि माने लोक सृष्टि इति गुणों को संहार न्याय आश्रित ब्रह्मसूत्र में गुणों को संहार न्याय दिया है इस यही युक्ति को लेकर के यहां भी ऐसा कर रहा है यहां यद्य भी नहीं कहा है यहां भूत सृष्टि भी नहीं बताया पंचीकरण भी नहीं बताया और ब्रह्मांड सृष्टि भी नहीं बताया केवल लोगों की सृष्टि बताई किंतु गुणों संगार न्याय लगाना कहा गुणों संगार न्याय कैसा होता है तो टिप्पण में दिया हुआ है तथा जो ब्रह्मसूत्रम कहा उपसंहारो अर्था वेदात वहां बोला है उपासना में तत्त गुण कहीं कहीं कम गुण बताया कहीं ज्यादा गुण बताया हुआ है उपासना पर ब्रह्म तो क्या करना चाहिए जहां कम है जहां ज्यादा होता है वो गुणों को यहां भी लाना होगा क्यों उपसंहार करना होगा यहां वहां में कैसा उपसंहार अर्थ अभेदा प्रयोजन अभिन्न है जो फल उसका है इसका भी फल वही है अर्थ माने प्रयोजन प्रयोजन अभेदा उपासना का प्रयोजन एक ही है प्रयोजन अभेदा विधिशेषवत जैसे अग्निहोत्र आदि में कहीं दुग्धादि की चर्चा है कहीं नहीं है किंतु अग्निहोत्र जुयात वाक्य आया तो सर्वत्र दुग्धादि के द्वारा अग्निहोत्र करना होता है वो विधि वाक्य विधिशेष है अग्निहोत्र आदि में जैसे विधान है उपसंहार करने का नियम है माने सर्वत्र सभी गुणों का साधन का बताया नहीं है कहीं कम साधन बताया कहीं ज्यादा साधन बताया हुआ है किंतु अग्निहोत्र सर्वत्र है तो उसमें जहां ज्यादा साधन बताया वहां से कम साधन वाले में भी उसको उपसंहार करना है ये दृष्टांत दिया विधिशेषवत समान है समान है जगह समान है समान जहां होगा बराबर होगा फल जहां समान होगा वैसे करना है समान है ये बताया यदि समान है विज्ञान है उपासना समान होने पर एक ही उपासना हो उस स्थिति में गुण पर गुणानाम उपसंहार गुणों का उपसंहार करना होगा क्यों तो कहा गुणाना वसा कार्य अर्थावेदा माने अर्थों गुणानाम प्रयोजन गुण लगाने का जो प्रयोजन है उपासना में प्रयोजन विज्ञान उपस्कार गुण का क्या प्रयोजन है उपासना के उपकार करेगा वो उपकार तद अभेदार कहा यही है प्रयोजन ये गए यहाँ वो उपासना को उपकार करने वाला है ऐसा कहा विधिशेषवत दृष्टांत दिया जैसे विधिशेष होता है कैसा होता है विधि वाक्य जैसे अग्निहोत्रम की होती यथा ही विधिशेषाणाम अग्निहोत्र आदि धर्माणाम विधिशेष अग्निहोत्रम होती ये विधि है तो उसके जो उसके अंग बने हुए धर्म हैं जितने भी हैं तदेव तदेव एकम अग्निहोत्र आदि कर्म वो सारे के सर्व एक ही अग्निहोत्र आदि के कर्म है वो सर्वत्र सभी में ही होगा सर्वत्र इति अर्थ अभेदात माने प्रयोजन अभेद होने से उपसंहार एवं यहाँ एवं यहां भी यहां भी ऐसे उपसंहार कर दिया जाता है यहां अभी पंचभूत की सृष्टि नहीं बताई अन्यत्र है चर्चा माने छांदों के पहले तत्तेजो अतिरिक्त अपंचीकृत अवस्था की तेज है बाद में त्रिवृत्ति कर्म बाद में है विस्तृत तो बाद में होगा पहले तत्तेजो अतिरिक्त वाक्य अपंचीकृत अवस्था के भूतों की सृष्टि बताई है तैतरीय में भी तस्माद वा ये तस्माद आत्मना आकाश पंचभूतों की चर्चा है माने अपंचीकृत भूतों की चर्चा है वहां पहले उसी प्रकार यहां भी यही करना होगा यहां भी उपसंगार करना होगा पहले पंचभूतों की सृष्टि समझा उसके बाद पंचीकरण समझा उसके बाद ब्रह्मांड सृष्टि की कल्पना करना समझना उसके बाद में लोक सृष्टि हाँ। तीन पहले हैं ये बताए टीका ये कह रहे हैं टीका लोक आराम भौतिकत्व लोक भूत नहीं है भौतिक है भूतों का कार्य है इसलिए अंडांतरवर्ती दूसरे हेतु देते अंडा के अंतर्वर्ती है लोग अंडा होगा तो ये तब तक कल्पना करेंगे लोगों चौदह भुवन की भूत सृष्टि तत्पंचीकरण अंड सृष्टि अनंतरम पहले भूत सृष्टि पंचभूतों की सृष्टि फिर उसके बाद पंचीकरण उसके बाद में अंड सृष्टि ब्रह्मांड की सृष्टि उसके अनंतर तत्सृष्टि माने लोक सृष्टि इति प्रसंगार न्याय में आश्रित हाँ, ये कहते हैं आकाश आदि ये बोलना चाहते हैं भाष्य में अम्बो मरिची मरमाप कौन लोग है तो ये बता दिया अम्ब मरिची मरमाप इत्यादि बनाया इसका अर्थ स्वयं करेंगे अभी ये भाष्य में कहते हैं अम्बोदि के शब्द ये लोग की अर्थ करने के लिए पहले आकाश आदि क्रमण कहते हैं सबसे पहले भूत सृष्टि में आकाश की सृष्टि तैतृक विषय से लेना है तस्माद ये तस्माद आत्मा आकाश समुदा आकाश वायु आदि वो समझना यहां भी यहां नहीं कहा आकाशादि क्रमेण अंडम उत्पाद्य भाष्य में बोल दिया लोकान अस्तित्व में यह पंक्ति संगति लगानी आकाश आदि क्रमण अंडम उत्पाद्य पहले आकाशादि की सृष्टि माने पंच महाभूतों की सृष्टि उसके बाद पंचीकरण उसके बाद ब्रह्मांड की सृष्टि अंडम उत्पाद्य माने ब्रह्मांड को उत्पन्न करके आशा आकाश अधिक्रम माने पंचभूतों की पहले सृष्टि की उसके बाद में पंचीकरण पंचीकरण के बाद में ब्रह्मांड आकाशाधिक्रमण अंडम उत्पाद्य ब्रह्मांड उत्पन्न करके उसके बाद अम्भा मरी मरीची मर माप लोक की सृष्टि तब है ठीक है उसके बाद अम्भ प्रवृत्ति लोकान अस्तित्वता ये सर इमान लोकान अस्तित्व अम्भादि लोगों की सृष्टि की यहाँ चार की चर्चा की है तत्र अंब प्रवृत्ति स्वयं व्याचष्ट श्रुति अंब क्या है मरीची क्या है मर क्या है आप क्या है श्रुति स्वयं उसकी व्याख्या करती है तत्र अंब प्रवृत्ति जो अंबादी कहा है मंत्र में उसको श्रुति स्वयं व्याख्या करती है अध अम्बा कहा अद अंबा परेण दिवम ऐसा शब्द है वो अध अंब परेण दिवम है मंत्र में उसी का अर्थ है अदा माने वह वह है अदा शब्द का प्रयोग मतलब, वह है अम्बा कौन अम्बा माने अंब शब्द वाच्य हो लोक जो अम्ब शब्द से कहा गया लोक है वह वो लोक है दूर है वो ऐसे निकाल लोक परेण दिवम माने दिवलोक से परे है दिवलोका पर यह अर्थ है इसका परेण एन प्रत्यांत है अव्यय हो जाता है तद्धित है ये न अनश्याम अधूरे सूत्र से यह न हुआ है तो पर सर्वनाम है उससे यह न होकर के न बना हुआ है ये तृतीयांक नहीं है परस्ता प्रथमार्थन है पर दिवम में जो पंचमी यहां द्योह होना था उसमें पर दिवम बना हुआ है कि उसमें अपादान पंचमी सूत्र को बाध करके ये नपा द्वितीय सूत्र है अपादान है ये द्यूलोक से परे द्यूलोक को अपादान बनाया गया तो द्यूल वहां देव बोलना द्योहो बोलना था उसके जगह पर द्वितीय विभक्ति हो गई एनपा द्वितीय ऐसा सूत्र से एनप के योग में द्वितीय या परेण एनप प्रत्यांत है इसलिए यहां दिवम बोला हुआ है कारक की बात है वो ऐसा बना हुआ है अदस तद अम्भ अम्बलोक वह है जो चार लोग में से एक लोग यहाँ चार लोग की चर्चा की वो ये वह है अम्ब शब्द वाच्य लोग परेण दिवम माने परस्ता पर दिप द्यूलोकात पर यही अर्थ करते हैं द्यूलोकात परेण माने परस्ता द्यूलोक से पर है जो ये अर्थ है द्यूलोक से आगे हैं ऊपर हैं वो है अंभा द्यूलोकात परेण माने परस्ता पर से अस्ताति करेंगे तो परस्तात होता और ये न किया तो परेण बना हुआ ये दोनों अव्यय हो जाते हैं सो अम्ब शब्द वाच्य अंबो भरणार कर अम्ब शब्द का वाच्य है क्यों मेघ का भरण करता है जल बरसाने वाला जो जल ऊपर आया हुआ उस काल में मेघ बोलते हैं उस काल में मेघ शब्द आ जाता है उनका अंबो भरणार कहा मेघ को भरण करता है माने जल भरता है वो वहीं से जल गिरना है यहाँ पृथ्वी में इसलिए अम्ब कहा उसका अम्बस अम्बस माने जल होता है जल का वाच्य बना हुआ है देव प्रतिष्ठा और वो श्लोक का अंब श्लोक का प्रतिष्ठा है आश्रय है देवलोक प्रतिष्ठा बने आश्रय देवलोक प्रतिष्ठा है उसको भी लेना साथ में अरे पांच लोग आ जाएंगे अंबस शब्द देव प्रतिष्ठा माने आश्रय तस्य अम्बस उस अम्बस लोक का देवलोक प्रतिष्ठा है आश्रय है उसमें हो जाता है आश्रित है देवलोक देव प्रतिष्ठा आश्रय तस्य अम्बस लोक <clears throat> जो अम्बस लोक है उसका आश्रय दिवलोक है यहाँ ये पांच लोग एक साथ है अम्बस शब्द से स्व महाजन तप सत्य अम्बस शब्द से यही है उसका आश्रय दिवलोक की ही है लिया है तो ये पांच हो जाएंगे अम्बस का वाच्य दूसरा दिवलोकार अधस्तात अंतर अधस्तात माने नीचे <clears throat> अस्ताति प्रत्यय लगा है प्रथमा अर्थ में है अव्यय है द्यूलोक से नीचे जितने हैं कहां तक द्यूलोकात अधस्तात अंतरिक्षम द्यूलोक से नीचे जो अंतरिक्ष लोक है यथ जो अंतरिक्ष है तत् मरीच है उसको मरीची लोग बोला है अम्बो मरीची मरा माप मरीजी शब्द से इसको बोला है अंतरिक्ष लोग को बोला है कहते हैं यहां मरीचय बहुवचन कैसे कर दिया अंतरिक्ष लोग एक है मरीचय बहुवचन ये बहुवचन का प्रयोग कैसे कर दिया तब कहते हैं एको भी अनेक स्थान भेदत्वाद बहुवचन बहुवचन भाव मरी चाहिए एक ही है फिर भी एक एक कोना करके अनेक हो जाता है वो एक एक देश भेद से ये आकाश वो आकाश वो आकाश ऐसा बोला जाएगा स्थान भेद से अनेक हो जाता है इसलिए मरीच है बहुवचन कहा ये बताया अथवा यह होता है मरीची का अर्थ यह है इसका मरीची बोला है इसलिए मरीची फिर बार रश्मि भी समझ सूर्य के किरण से संबंधित है अंतरिक्ष लोग इसलिए उसको मरीचय बोला सूर्य की किरण तो बहुत आई है तो इसलिए उसके संबंध होने से उसको मरीचय बोलते हैं दो अर्थ कर दिया इसका या तो थान वेद से मरीचय बोल देंगे या सूर्य के किरण से संबंधित है इसलिए इसको मरीचय बोला पृथ्वी मरह पृथ्वी को लोग बोला है इसको मर बोलते क्यों मृत प्राण त्यागे धातु से अच प्रत्यय करके मर बनाया हुआ है रब अब करेंगे तो मन बन जाएगा वो तो अकर्तृत्व कार्य के संज्ञायाम सूत्र के अधिकार में कर्ता भिन्न कारक में अधिकरण कारक में है मरा बना हुआ रिदो रब अधिकरण कारक है कर्ता भिन्न कारक में है तो पृथ्वी पर ब्रियंते अस्मिन भूतानी यदि मरा इसमें भूत पैदा हो जो हुए मर जाते हैं सारे के सारे मरने वाले हैं इसमें इसलिए इसको मरा लोग बोला मृियंते अस्मिन भूतानी की मरह या मृग प्राण त्याग धातु से अप्रत्यय हुआ है अधिकरण कारक अकर्तृत कार्य के संजाय सूत्र के अधिकार में रिदोरभ सूत्र से अप हुआ है मरा बना हुआ है जिसमें प्राणी मर जाते हैं भूत जितने भी होते हैं मरते हैं उसको मरा बोला पृथ्वी में कोई भी स्थिर नहीं रह पाता ये मृत्यु लोग है मरने वाला लोग है सबको मरना पड़ेगा यहां मरा है या अधस्तात जो लोग नीचे हैं पृथ्वी के नीचे हैं या अधस्तात पृथ्व्या हाँ, पृथ्वी के नीचे जो पड़े हैं ता आप उच्चनते उसको आप कहा है कहते हैं क्यों आप बोला होगा नीचे वाले को कहते हैं आपनोतेर लोग कहा देखो विशेष रूप से वो लोग प्राप्त होता है गलत कम कर्म करने वाले की कमी नहीं है नारकीय लोग उधर ही हाँ, आपनोतेर आत्मनिर्व्याप्त से आपा बना या अप शब्द का आपा नहीं है आत्मनिर्व्याप्त है उसे इसलिए आपा बोला हुआ है व्याप्त होता है हम्म, हमेशा भरा हुआ रहता है नीचे वाला लोग ऊपर वाला तो खाली भी होता है कभी तो नीचे वाले भरा हुआ होता है आप लोग लोका बोला है हमारे व्याप्ति संबंधात आपकी संबंधात व्याप्त रहता है इसलिए उसको आप बोला है यद्यपि पंचभूतात्मकत्व लोका नाम यद्यपि ये भूत जो है पंचभूत स्वरूप है फिर भी एक एक नाम दिया अंबस बोल दिया मरीची बोला बरा बोला आपा बोला सभी तो पंचभूत है पंचीकरण करके बना हुआ है तो ये फिर ये अंबस एक जल नाम से दे दिया एक आप नाम से दे दिया मरा नाम से कैसे हो रहा यद्यपि पंचभूतात्मकत्व लोकात्म यद्यपि पंचभूत स्वरूप है फिर भी तारतम्य तथा तथा अब बाहुल्यात अपनाम अभिरेव अम्बो मरीज मरा तब तक बाहुल्य के कारण से तब तक शब्द का प्रयोग हो गया है हाँ, अंबस में वहां जल की बाहुल्य है वहीं से बरसता है इसलिए उसको अंबस बोल दिया है इसमें सूर्य किरण का बाहुल्य देखा है अंतरिक्ष में इसलिए मृत्यु का बाहुल्य देखा है और नीचे वाले में सबकी व्याप्ति का संबंध बाहुल्य देखा है प्राय सभी वहां गए होंगे होंगे हम भी कई बार गए होंगे होंगे अभी भी क्या पता वहीं से आए हों कोई पता नहीं हो सकता है चिन्ह यदि बताऊं तो आपको दुख होगा हाँ, चिन्ह है स्वर्ग भोग के आए हुए व्यक्ति का नरक भोग के आए हुए व्यक्ति का शास्त्रकार ने लक्षण बताया हुआ माने आप अभी यहां आए हैं यदि पहले आप स्वर्ग में थे वहां से आए हो तो उसका स्वर्ग स्थितानाम यह जीव लोके चतवारी चिन्हानी वसंत देह जो स्वर्ग से आए हुए जीव होंगे यहां भी इस लोक में स्वर्ग भोग के आए हुए चार लक्षण होंगे उसके शरीर में स्वर्ग स्थितानाम यह जीव लोके चतवारी चिन्हानी वसंत देह चार लक्षण होंगे उसके देह क्या होंगे दाना प्रसंग मुक्त हस्त होगा देने चाहे बागदान वाणी का दान हो धन दान ही नहीं कई दान है अभय दान हो कई दान हो सकता है दाना प्रसंगो मधुराज वाणी उसके वाणी में माधुर्य होगा स्वर्ग भोग के आया हुआ जीव का एक तो मुक्त हस्त होगा दान देने अभय दान कई दान है धन दान ही मात्र रुपया दान करने की तो मात्र दान नहीं है भयभीत व्यक्ति हो अभय दो तो। कोई हो किसी को औषध दो किसी को वस्त्र दो जो आवश्यकता है जो हो सके कुछ दान करो कुछ ना तो श्रम दान करो शारीरिक दान मानसिक दान भी हो सकता है किसी को अनिष्ट मत सोचो इष्ट सोचो भी दान है ये नहीं कि धन होने पर ही दान हो सके ऐसी बात नहीं है कई तरह से हो सकता है वाचिक दान अभय दान आदि वाचिक दान है तो स्वर्ग स्थितान यह जीव लोके चतरी चिन्हानी वसंति देहे चार लक्षण है दाना प्रसंग मधुरा वाणी वाणी मधुर होगी उसी शब्द को हम बिगाड़ करके कर्कश करके बोल सकते हैं उसी को हम माधुर्य से बोल सकते हैं तो स्वर्ग से आया होगा तो मधुर शब्द बोलेगा मधुरा वाणी देवार्जनम ब्राह्मण तर्पण देवताओं के मंदिर में जाने की आदत होगी उसकी पूजा करनी देवताओं की पूजा करने की आदत होगी पहले देवभाव में बैठा हुआ था तो वही संस्कार होगा देवार्तन ब्राह्मण तर्पण माने ब्राह्मण आदि की संतों की सेवा करने की उसके तृप्त करने की लक्षण होगा यह स्वर्ग से आने वाले व्यक्ति का चार लक्षण और दूसरा जो नरक भोग के आया होगा तो उसके भी लक्षण है उसके ज्यादा लक्षण है ऐसा है अत्यंत कोप कटुता च वाणी दरिद्रता च स्वजलेश वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्नान देहे नरक स्थित नरक भोग के आया हुआ व्यक्ति का पहचान है अपने आप जान सकते हैं आप कहां से आए हैं पता लग जाएगा अत्यंत कोप अत्यंत क्रोध है बिना कारण झगड़ा करता है क्रोध करता है अत्यंत कोप कटुता जो वाणी वाणी में कटुता है माधुर्य नहीं है कर्कश वाणी बोलता है अत्यंत कोप कटुता वाणी दरिद्रता दरिद्रता है जीवन में दारिद्र से घिरा हुआ है ठीक है और दरिद्रता च स्वजरेशु बैरम अपने लोगों में झगड़ा करेगा अपने भाई बंदादी जो भी होंगे उनमें झगड़ा करेगा स्वजरेशु बैरम अत्यंत कोप कटुता से दरिद्रता च स्वजरेशु चार लक्षण हो गए नीच प्रसंग नीच जनों के साथ संबंध करेगा शराबी कबाड़ी के साथ संबंध करेगा अच्छे महापुरुष के साथ संबंध नहीं करेगा नीच प्रसंग कुलहीन सेवा जो तो कुलहीन व्यक्ति उनके सेवन करेगा अच्छे कुलीन व्यक्ति की सेवा नहीं करेगा नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हान देहे नरक स्थित जो नरक में स्थित व्यक्ति है नरक से आये हुए व्यक्ति के चिन्ह होते हैं हम अपने आप ये घटा सकते हैं कहां से आए ये लक्षण है अब हम बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा आप बुद्धिमान है इसमें समझ लिए अच्छी बात होगी हम कहें तो आपको दुख होगा आप स्वयं समझे कहां से आया एक स्वर्ग से आए हुए पहचान है नरक से आए हुए पहचान है स्वर्ग यह जीव लोके चतरी चिन्ह बसंत देहे दान प्रसंगो मधुरा चाणी वाणी देवार्थनम ब्राह्मण तर्पण ये स्वर्ग से आयु हुए का लक्षण है और नरक से आयु का अत्यंत कोप कटुता चाणी दरिद्रता च स्वजने सुदैरम नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा चिन्ना देहे नरक स्थिता नरक स्थिता नरक में रहे हुए ऐसा स्मृतिकारों ने ऐसा कहा हुआ है तो ये कहा यहां यद्यपि पंचभूतात्मक लोकानाम तथापि अबाहुल्यात अपनामा भी देव अम्बो मरीची आप यद्यपि पंचभूतात्मक सभी लोग हैं चाहे अम्बस हो चाहे मरीची हो चाहे मर हो चाहे आप हो सभी विस्तृत पंचभूतों के मिश्रण से फिर भी तत्त शब्दों के बाहुल्य से तत्त ये तत्त वस्तु के बाहुल्य से तत्त शब्द का प्रयोग हो जाता है तथापि अब तथा अब बाहुल्य होने के कारण अम्ब बोल दिया उसको इसी प्रकार मरीची बाहुल्य होने के कारण मरीची बोल दिया मृत्यु बहुल्यता के कारण मर बोल दिया इसको ठीक है और आपती बाहुल्य होने से आप बोल दिया नीचे वालों को नीचे वालों में आपती बाहुल्य है सभी पहुंचते हैं नीचे वाले ऊपर वाले में पहुंचना कठिन है नीचे वाले में सब पहुंच जाते हैं गलत काम करने वाले जाएंगे लड़के आपती बाहुल्य है वहां इसलिए उसको आप कहते हैं ये कहा टीका से देखें तेसाम लोकेशु अप्रसिद्धत्वादि अप्रसिद्धवाद इत्यर्थ कहते हैं क्योंकि अम्बस मर्जी मरा मापा का लोक में प्रसिद्धि नहीं है शब्दों का लोक में कोई जानते नहीं अम्बस माने ऊपर के लोग में कोई जानता नहीं इसलिए श्रुति स्वयं व्याख्या करती है अम्बस क्या है मरीची क्या है जो तो चार की सृष्टि बताई यहां चार तो अम्बस क्या है मरीजी क्या है मारा क्या है आपा क्या है श्रुति स्वयं व्याख्या करती है तेसाम शब्दाराम जो अंबसारी आदि शब्द है उनका लोकेश अप्रसिद्धत्व लोगों में प्रसिद्ध नहीं है वो शब्द लोग में सामान्य जन जानते नहीं इसलिए स्मृति स्वयं व्याख्या करके कहा द्यूलोका परहा परस्तात ये महाराज लोका द्यूलोक से ऊपर जो लोग है महाजन तपस्य महादिलोक है महाराजिलोक है ये लोग यश तस् अम्बसो लोक से आश्रय और वह अम्बस लोग हो गया महाराजी और उसका आश्रय जो होगा द्यूलोक यश तस्य अम्बसो लोक से आश्रय दिवलोक ते सर्वे अंब शब्द में उच्चनते दिवलोक सहित आगे ऊपर के लोग जितने हैं अम्बस शब्द से कहा गया ये समझना क्यों कहते हैं वहां अम्बस क्या रहता है ऊपर में वृष्टि अम्बस तत्र विद्यमान जो वृष्टि होने वाले बारिश है ना जो बेग अवस्था में बैठा ऊपर बादल वो वहां है ऊपर है वृष्टि अम्बस जल नीचे है आप कहेंगे जल तो नीचे है ऊपर कहा है जल बारिश की तैयारी वाला जल है वो दृष्टि अंबस है तत्र विद्यमान अपराध कहा दृष्टि जूल की जो अंबस है जल है वहां तत्र माने ऊपर के लोग में विद्यमान है यू लोग से ऊपर विद्यमान है वो यही बोलते हैं अदह इत्यादि अदह तर अम्भ वह है वह अम्भ अधस्त विप्रकष्ट दूर में दिखा रहे अदह तर अम्भ शब्द वाच्य अम्ब शब्द का वाच्य वह है लोग परेण दिवम का दिवलोका दिवलोक से पर है दिवलोक से आगे है परस्ता सो अम्ब शब्द वाच्य अम्बो भरणा देव प्रतिष्ठा इत्यादि वाच्य में उसकी प्रतिष्ठा देवलोक है देवलोक में आश्रित है आश्रय है अम्ब सो लोक से इत्यादि बताया ठीक है अंतरिक्षम मरिचय इतने अर्थ दूसरे नंबर में कहा था अंतरिक्षम मरिचय बोला हुआ है उसका क्या अर्थ होगा सब कहते हैं द्यूलोकार अधस्ताप अंतरिक्षम यत्तन मरीच है द्यूलोक से नीचे जो वस्तु है वो मरीची है यही है अंतरिक्ष ये है वहां मरीची है फिर मरीचय बहुवचन कैसे कर दिया अंतरिक्ष एक एक वचन तो मरीची बोलना चाहिए मरीचय बहुवचन कैसे तो कहा भी अनेक स्थान वेदा वेदत्वाद बहुवचन बहुवचन मान मरीचय एक होने पर भी स्थान वेद से अनेक हो जाता है भारत में कई देश ये देश वो देश वो देश वो देश उत्तरकाशी में कई देश हो जाता है ये देश वो देश वो देश ऐसा हो जाता है वेद से अनेक हो जाता है इसलिए मरीज को दिया ये कहा ठीक है मरीची शब्द है ना सूर्य किरण संबंधा मरीची शब्द के द्वारा क्या लेना है सूर्य किरण संबंध होने से अंतरिक्ष लक्षित हुआ मरीची शब्द के द्वारा अंतरिक्ष लक्ष्य को लक्षित करके अंतरिक्ष लोग को लक्षित किया क्यों मरीची का संबंध है वो सूर्य किरण का संबंध है लक्ष्य लक्षण करके तस् एकत्व भी अंतरिक्ष शब्द एक होने पर भी प्रवेश वेदार बहुवचन उत्तम प्रवेश वेद से अनेक इसलिए मरीचय बोल दिया कहा मरीची के संबंध होने से उसको मरीची बोला और स्थान वेद से अनेक होने से बहुवचन का प्रयोग कर दिया इधानी बहुनाम मरीचिना अथवा ये मानना चाहते हैं मरीची को लेकर ही यहां पर मरीचय बोला हुआ है ये इधानी अब बहुनाम मरीची नाम लक्षकत्वा बहुत मरीची उसका लक्षक बने हुए हैं लक्षण है तत्कृतम बाहुल्य वो लक्षण के द्वारा किया बाहुल्य आ जाएगा बहुतों ने किया तो बाहुल्य आ गया गंगाया घोष इत्यत्र का कथा तीरत्व विवाह त्रित्व विवाह नहीं तीरत्व विवाह जैसे गंगायाम घोषा बोलते हैं वो घोषा बोलते समय में वो लक्षण कर देते तीर में लक्षण कर देते हैं ठीक इसी प्रकार यहां भी मरीची शब्द के द्वारा मरीची जिसमें आश्रित है कहाँ आश्रित है अंतरिक्ष में जैसे गंगा पद का प्रवाह होता है अर्थ होता है प्रवाह उसके संबंध तीर में है इसलिए गंगायाम घोष का अर्थ तीर कर देते हैं लक्षणावृत्ति से इसी प्रकार यहां भी मरीची का संबंध है अंतरिक्ष में इसलिए अंतरिक्ष मरीची को मरीची शब्द के द्वारा लक्षणावृत्ति से शक्तिवृत्ति से तो मरीची मैंने सूर्य किरण है उसका संबंध अंतरिक्ष में इसलिए लक्षणावृत्ति से मरीच है बोल दिया मरीची वीर इत्यादि स्वीकार करते हैं न तो मरीची शब्द है ना अंतरिक्ष लोक स्वीकारे मरीची संबंधों निमित्तांतरम उच्चते भ्रमित ऐसा या नानु नहीं है न तो पाठ है ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए ऐसा भ्रमित नहीं होना चाहिए मरीची शब्द है ना अंतरिक्ष लोक स्वीकारे मरीची शब्द के द्वारा अंतरिक्ष लोक स्वीकार करने पर मरीची माने अंतरिक्ष ऐसा मान लिया लक्षणावृत्ति लेकर के मरीची का संबंध है इसलिए अंतरिक्ष है ऐसा मानने पर मरीची संबंधो निमित्तांतर उच्चता फिर एक मरीची का संबंध एक और और निमित्त संबंध भी लेना पड़ेगा उच्चते इति न भ्रमित ब्रह्म नहीं होना चाहिए क्यों एक भिन्न से निमित्तांतर से पूर्व अनुत यहां पर अन्य निमित्त नहीं बताया पूर्व एक ही निमित्त बताया एक ही निमित्त है यहां भी एक ही निमित्त लेना दो निमित्त नहीं लेना संबंधांतर नहीं लेना का एक भिन्न से इसको छोड़कर के पूर्व में निमित्तांतर से पूर्वम अनुत पूर्व पूर्व पर्याय भी नहीं कहा विकल्पार्थक विकल्पार्थक बा शब्द आएगा विकल्पार्थक बा शब्द यहां नहीं है मर्ची संबंधो बा इत्यादि शब्द नहीं है ऐसा नहीं है शब्द नहीं है बा शब्द विकल्पार्थक बा शब्द आयोगा विकल्पार्थक बा शब्द का संबंध नहीं है यहां इसलिए ऐसा भ्रम नहीं करना बोलती है आगे आपा उच्चंदे कहा था पृथ्वी मर में तो प्रसिद्ध है अर्थ नहीं दिया पृथ्वी मर मृियंते अश्विन भूतानी ऐसा बोल दिया या अरस्ता ता आप बोला था आप उच्चंते क्यों आप उच्चंते कहा था क्यों तो कहते हैं अधोलोक वासिवीर जीवैर आपके मानव नीचे रहने वाले जितने जीव हैं पृथ्वी के नीचे रहने वाले जितने जीव उनके प्राप्त है वो आपके मानव प्राप्त मानव अधोलोकवासिवीर जीवई जीवैर आप्यमानत्वात यही आप धातु का अर्थ घट जाता है वहां उनके द्वारा प्राप्त होने योग्य है वो प्राप्त होता है इसलिए आप लोग देर धातु और अर्थ योगा अपनी व्याप्त धातु का अर्थ का संबंध है वहां नीचे वाले लोग में माने अधोवासी जो जितने जीव है उनके द्वारा अधोलोकवासी जीवों के द्वारा प्राप्त है वो लोग इसलिए आप धातु का अर्थ का संबंध होता है इसलिए आप बोला या अपशब्द नहीं समझना जल का वाचक नहीं समझना कहा ते लोग कहा आप इति उच्चनते ऐसा करना कहा आगे शंका होती है कि ननो नाम लोकानाम पंचमत संबंध अविशेषा ये जितने भी चार लोग की चर्चा की चौदह लोग इसमें आ गए हैं तो इसमें पंचभूतों का संबंध समान है फिर एक के लिए अंबस बोलना दूसरे के लिए मरीची बोलना क्या कहा आपने वो जल से थोड़ी बना है वो खाली जल तो नहीं वो वहां भी पंचभूत है तो कहते हैं नाना उक्तानाम लोकानाम पंचभूत संबंध विशेषात जो कहे गए लोग है पंचभूत के संबंध का समान होने से अविशेष होने से भूतांतरण पृथ्वी ना उपरितन लोका था कि पृथ्वी के ऊपर के लोग में अन्य भूतों का भी संबंध कीजिए आप केवल एक एक मरीची का ही संबंध और अब का ही अम्बस का ही संबंध ऐसा मतलब अम्बस मैंने जल है खाली जल का ही संबंध किया ऊपर वाले में और बीच वाले में मरीची का ही संबंध बना दिया यही मात्र लक्षित मत कीजिए आप अन्य भूतों में जोड़िए आप पंचभूत समान है सभी ये पूर्वाधिक संख्या शंका उक्ता नाम पंचभूत संबंध अविशेष समान समानत्व समान होने से भूतांतरण पृथ्वी आदि ना उपरितम लोक लक्षण अन्य भूत के द्वारा भी पृथ्वी से जो ऊपर के लोग हैं आपने मरीची बोल दिया एक को एक को अंबस बोला हुआ है जल प्रधान जल बता दिया एक को एक को मरीची बता दिया इतना मात्र नहीं अन्य भूतों के साथ ही संबंध कीजिए लक्षण था और अंतरिक्ष मरीची व्यतिरिक्त आदि और अंतरिक्ष में मरीची से अतिरिक्त जो मेघादि का भी संबंध है उसको भी बताइए आप खाली मरीची का सूर्य किरण का ही संबंध है अंतरिक्ष वैसा में बादल का भी संबंध है उसको भी लीजिए ये कहा अंतरिक्ष मरीची व्यतिरिक्त पदार्थांतरण मरीची से अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी है मेघादिना भी मेघादिना है कि दिनों भी है वेगादि का भी या ष्ठी करना पड़ेगा फिर तो मेधा करके हो जाएगा मेघादिरो भी संबंध मेघादि का भी संबंध होने से वेगादि भी वहां है बादल आदि भी होने से तेरह सौ लोग उस लोक के कल्पना कीजिए लक्षणता लक्ष्यता लक्षणता उसको लक्ष्य बनाइए वो अंतरिक्ष लोक को पृथ्व्या ततो अधो लोक नाम है पृथ्वी लोक और नीचे के लोक में आपने एक को तो मारा करके छोड़ दिया और एक आपा करके छोड़ा हुआ है यहां भी पृथ्वी और उसके जो नीचे के लोग हैं अतल आदि लोग हैं इनमें भी मरण आपती अतिरिक्त व्यतिरिक्त है पृथ्वी के मरण धर्म को लेकर के मर बोल दिया आपने उसको सभी के द्वारा प्राप्त होता है अदो लोकवासी जीवों के द्वारा इसलिए आप बोला इतना अर्थ ने और भी जोड़ी है वहां दोनों में तो पृथ्वी तथो अधो लोकानाम पृथ्वी लोक और उसके नीचे के जो लोग हैं उसमें मरण और आपती नीचे के लिए आपती बोला है पृथ्वी के लिए मरण बोला है सामान्य से बताया आपने धर्म इसे व्यतिरिक्त गमन आदि इनमें गमन आदि भी तो होता है ना चलन हिलना डोलना वो भी धर्म लगाना चाहिए इसे अतिरिक्त धर्म कर्मादि क्रियांतरण आदि गमनादि क्रिया भी तो है इसमें योगाद इनके क्रियांतरण ते लक्षणता ये दो ये लोग इन लोगों के लक्ष्य कीजिए आप ऐसी संकत पूर्वादि शंका करता है यद्यपि पंचभूतात्मक तुम लोकानाम ये कहा ये शंका ग्रंथ है आगे उत्तर ग्रंथ में कहा तथापि तत्त बाहुल्य के कारण तत्त प्रयोग हो जाता है ये बोला उत्तर दिया तथापि से उत्तर है पंच यद्यपि भूतात्मकत्व बोला भूत संबंधित भूत संबंधित है यद्यपि पंचभूत का संबंध है फिर भी पांचों भूतों को न कहा करके तत्त भूतों के बाहुल्य के कारण तत्व दे दिया सभी में ऐसे होता है तैतृपन से हिसाब से एक को आकाश बोलते हैं तो पंचभूत है वो सभी पंचभूत आए होने पर भी एक को पृथ्वी बोलते हैं आकाश है एक विशेष धर्म है वहां जब पंचीकरण के समय में जो पांचों को आधा आधा किया होता था तो आधा आधा अपने हिस्से में होता है फिर आधा का चार भाग कर दिया जाता है वो अपने को छोड़ करके अन्यत्र डाल दिया जाता है तो चौथा हिस्सा बाहर से आता है आधा अपने पास होता है आधा बाहर से आया हुआ हो जाता है चार मिलकर के होता है और आधा अंश अपना होता है उसके लेकर व्यवहार होता है सत्तर भूतों का ही कहा इदम उपलक्षणम ये उपलक्षण है भूत संबंधित तत्व भूत संबंध उपलक्षण है मेघादि पदार्थांतर संबंधों की वर्तते मेघादि अन्य पदार्थ का संबंध भी है अम्ब आदि नाम एवं तेस लोकेशु प्राचुर्या अम्ब उन उन लोगों में उन उन शब्दों से प्राचुर्य होने से तब तक वस्तु का प्राचुर्य होने के कारण अम्बा नाम एवं तेस तेस लोकेशु प्राचुर्य ऊपर के लोग में जल्दी प्राचुर्य है अंतरिक्ष में मरीजी की प्राचुरी है या मृत्यु की प्राचुरी है नीचे आपते की प्राचुरी है इसको लेकर के तब तक बताया गया है तो और भी संबंध है अम्बादीना और तेसु तेसु लोग प्राचुर है तैरे व लोका लक्षण इसलिए उन्हीं के द्वारा लोक का नाम लक्षित कही लक्षण करना चाहिए प्राचुर्य देवदशा भवंती ऐसा युक्ति है न्याय है जो प्रचुरता को लेकर के उपदेश किया जाता है प्राचुर्य देवदेशा भवन देवदेशा उपदेशा न्याय युक्ति है ये हरिहरते उत्तर देते तथापि का भी पंचभूत का संबंध सर्वत्र बराबर है अन्य क्रियाएं भी है दमनादि क्रिया भी लगी फिर भी उनकी प्राधान्य है जिन लोग में जिसकी प्राधान्य उसको लेकर उसका लोग का नाम तथापि अब बाहुल्य उस लोग में जल की बाहुल्य ऊपर इसलिए अंबस बोल दिया उसको अब अपनाम भी देखो उसको अपनाम से कह दिया इसी प्रकार अम्भो बोल दिया उसको अंबस बोल दिया इसलिए मरीजी के बाहुल्य होने से मरीजी बोल दिया और मृत्यु के बाहुल्य से बर बोला हुआ है आपती की बाहुल्य से आप बोला हुआ है ऐसा बाहुल्या किसी उपलक्षण अब बाहुल्यात करके छोड़ दिया है उपलक्षण औरों का भी लेना मरीज बाहुल्यात मृत्यु बाहुल्यात ये सब लेना पड़ेगा प्रत्येक लोगों के लिए मरीचियादि नाम अभी बाहुल्यात दृष्टा मरीची के बाहुल्य से मरीची बोला लोग को मृत्यु के बाहुल्य से मर बोल दिया ये भी लेना होगा आपती की बाहुल्य से आप बोला ये सब लेना होगा कहा आगे अपनाम अभी में भी एक ही ले लिया भाष्य में अपनाम अभी बोल दिया माने वहां भी मरीची नाम अभी ये सब लेना पड़ेगा मर नाम अभी अपनाम अभी इत्यादि अपनाम अभी इत्यत्रापि आदि नाम मरीची आदि नाम अभी दृष्ट द्रष्टव्य भी देखना चाहिए यथाश्रुते तो जैसा आया अब बाहुल्या अपनाम अभी एक एक वचन आया वहां ठीक है वैसा लेने पर यथाश्रुत हेतु अवात्मक अम्बा आदि शब्द लक्षक तो अनुक्त है अबादि के द्वारा अम्बादि शब्द लक्षक नहीं मानेंगे एक ही अम्ब को ही मानेंगे तो क्या होगा ते लोकाराम शंका अनुपत हाँ। अनुते लोकाराम शंका अनुपत लोकों के विषय शंका ही नहीं होती फिर यहां इसलिए मरीचियादि नाम नाम अव्याप अपनामत्व अभाव और मरीची आदि में अपनाम है भी नहीं इसलिए अपशब्द से अपशब्द से आप ही आपकी तो होते हैं जल का भी जलवाचक तो है नहीं अपशब्द भी यहां आपकी क्रिया के लिए बोला हुआ है प्राप्ति होती है करके का अपनी धातु का अर्थ बनाया है उसके भी अपनाम से भी नहीं बोल सकते ऊपर के लोग को अपशब्द से आप ही आपकी क्रियार्थत्व होते हैं अपशब्द मतलब भी यहां अब जल का वाचक नहीं लिया है क्या लिया है अपशब्द का अर्थ आपकी आप धातु का रूप है होने से अपनामत्व अभाव है अब शब्द में भी आप नहीं रहेगा जो आप तो भी अर्थ में है इसलिए अपनाम भी की परिहार अनुपत्य से अपनाम भी उत्तर भी नहीं बनेगा इसका इसलिए उपरितन लोका वृष्टि द्वारेण आगत अंब एवं अस्मा भी साक्षात उपलब्ध थे न तो भी अस्मत दृष्टि अपाहुल्यम कहते ऊपर के लोग से ना गिरे हुए जल ही हमें दिखाई पड़ता अन्य भूतों की दिखाई नहीं पड़ते ऊपर के लोग ऊपर के लोग से जल गिरते हैं उसी को हमारे साथ प्रत्यक्ष होता है और वहां क्या क्या है सब पता नहीं होता इसलिए उसको अपनाम से अम्बा नाम से बोल दिया यह है ये बोलते हैं हाँ, तो पांचों भूत है वहां ये कहा ये कहना चाह रहे हैं उपरितन लोकात वृष्टि द्वारा आगत अम्बस एवं ऊपर के लोग से वृष्टि के माध्यम से गिरा हुआ जो जल है हमारे पास आया हुआ जल है धरती पर आया हुआ जल ही एवं अस्वाभि साक्षात बोला हम उसी जल को ही हमारे द्वारा उपलब्धि की जाती है न तो भूतांतर क्या क्या भूत है वहां दूसरे पता नहीं लगता हमको इसलिए उसको अंब बोल दिया है ये कारण है अस्मत दृष्टिया अब बाहुल्य हमारे दृष्टि से जल की बाहुल्य वहां है वहां क्या बाहुल्य हमको नहीं पता हमारी दृष्टि जैसे जल गिरता है उसके बाहुल्य अस्मदृष्टिया दृष्टिया अब बाहुल्यम उपरितम लोक नाम उपरितम लोक में जल बाहुल्य हमारी दृष्टि से है ऊर्दलोकगामी प्राणी अपेक्षा है अधोलोकगामी नाम प्राणी नाम पुराणे से बाहुल्य उठे पुराणों में ऐसी बाहुल्य बताया है ऊपर जाने वाले कम होते हैं नीचे जाने वाले ज्यादा होते हैं तीर जीवनी में जाने वाले ज्यादा हैं इसलिए बहुवीर अत्यंत बहुतों के द्वारा प्राप्त होता है नीचे वाले लोग अधोलोक अत्यंत अधोलोक कहा बहुतों के द्वारा प्राप्त होता है अधोलोक नीचे का लोग यदि अधोलोकेशु तत्कर्तृक आपते बाहुल्य नीचे के लोग में ना वो जो नीचे लोग जाने के लिए जो साधन करने वाला कर्ता के बाहुल्य है इसलिए उसको बहुवचन से कर दिया आप पृथ्व्याम अतिशीघ्रम प्राणिनाम मरणा यहां की मृत्यु बहुत जल्दी है बची नहीं सकता अतिशीघ्र मरण है तस्या भी तत्र बाहुल्य इसलिए मृत्यु बाहुल्य मरण बाहुल्य इस लोक में यही लेना है इसलिए यहां पर इसको मर बोल दिया अंतरिक्ष से तो मरीच बाहुल्य प्रसिद्ध अंतरिक्ष में मरीची प्रसिद्ध है इसलिए उसको मरीचय बोल दिया ये ज्ञान कहा अंगो मरीची मर बात इत्यादि कहा एक नाम अभी उच्चते उच्चते अन्वय इन नामों से कहे जाते हैं ऐसा संबंध बना देना कहा आगे मंत्र है सईक्षत इमेनु लोका लोकपालान्नो सृजई सो अद्य एव पुरुषं समुद्धृत्य सईक्षत इमेनु लोका लोकपालानुसृजा सृजाई सो तो अद्य एव पुरुषम समुद्रित अमूर्छयत स वो आत्मा जो आत्मा वही एक आग्रह आशित आदि था वही स मैंने आत्मा उस आत्मा ने क्या किया इक्षत फिर ईक्षण किया विचार किया क्या विचार किया क्या यहाँ अक्षत है वह आठ का आगम का अभाव है उसने ईक्षण किया इमेन लोक है ये लोक बन गए चौदह भूखंड तैयार हो गए निवास स्थान तैयार हो गया अब वहां के निवासियों की सृष्टि करना है ये सोचना इमेन लोका ये लोक बन गए इमे लोका ये चौदह तो लोग हो गए लोकपालान सृजय थे इन लोगों की रक्षा करने के लिए लोकपालों की सृष्टि करो ऐसा विचार किया उन लोक की रक्षा लोकपाल माने अधिष्ठात्री देवताएं होंगे यहां भी चलते चलते लोकपाल वैसे आएंगे नहीं लोकपाल को लाने के लिए इंद्रिया चाहिए इंद्रिया को लाने के लिए गोलक चाहिए गोलक लाने के लिए पिंड चाहिए उसके बाद लोकपाल आएंगे अधिष्ठात्री देवता तभी आएंगे वो इंद्रियों को उपकारक है वो इंद्रिय आएंगे तब आना उन्होंने इंद्रिय लाने के लिए कुर्सी चाहिए उनको गोलक चाहिए और गोलक के लिए पर पिंड चाहिए सब ये सृष्टि होगी खाली लोकपाल की सृष्टि नहीं हो पाएगी उसके पहले पिंड सृष्टि करना पड़ेगा पिंड में फिर तब तक गोलक बनाना पड़ेगा फिर वहां इंद्रिया इंद्रियों की सृष्टि होगी उसके बाद लोकपाल अधिष्ठान देवता ऐसे आएंगे कोई गुणों को संगार न्याय यहां भी लगाना पड़ेगा लोकपालान नु तू नू माने तू या नू का अर्थ तू है किंतु लोग तो सृष्ट हो गए किंतु लोकपालों की सृष्टि करता हूं ऐसा सोचा कोई सृजय का जैसे पहले अर्थ किया था वैसे करना अपने आप के लिए होता नहीं लोट में लोक देते तो लट समझना सृष्टिकर्ता सृजे इति इक्षता सृष्टि करता हूं ऐसा ईक्षण किया ऐसा अर्थ करना उस स्थिति में क्या करता है लोकपाल की सृष्टि करने की इच्छा की थी किंतु पहले एक पिंड बनाता है निकालता है जहां इंद्रिया बैठ सके और फिर इंद्रिय को गोलक बन सके फिर आगे इंद्रिया बैठ सके तब लोकपाल आएंगे इसलिए सो अध्यय वह माने जल प्रधान जो पंचभूत है खाली जल से तो नहीं है जल प्रधान पंचभूत है सो अद्भय एवं उसी जल से माने जल प्रधान पंचभूतों से वो परमात्मा ने एवं उसी से ही पुरुषम समुद्रित है एक पिंड निकाला पंचभूतों से एक पिंड तैयार कर दिया शरीर जिसको विराट बोलते हैं पुरुषम समुद्रित निकाल करके अमूर्त है उसके अवयव के द्वारा संयोजन करके एक आकृति के रूप में ढांचा में तैयार करते पहले मिट्टी जैसा निकाला कुछ निकाला निकालने के बाद में तब तक अवैध नाक काम मुख आंख ऐसा वैसा करके एक तैयार कर दिया एक ढांचा बना दिया एक ढांचा तैयार कर दिया ऐसा कहा माने विराट दृष्टि हो गई ये बताना चाह रहे है मैं कहते समय हो गया ये रंग ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता नमो में प्रतिष्ठिता आविरावीर्मयेति वेदस्य माणिष्ठः श्रुतं मे मा प्रकाशीरणेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्तताम् ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु अवतु वक्तारम् ओम सा